दोस्तों आप राग देश सुन रहे थे बहुत ही अच्छा इन्होंने गाया बहुत बहुत शुक्रिया आपने बड़े प्यार से सुना एक शेर इसी फंक्शन पे पिछले साल पढ़ा था उसकी फरमाइश हुई है क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है सतगुरु जी जगजीत सिंह जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है उनके लिए मैंने पिछले साल एक शेर कहा उसको थोड़ा सा बदल कर पेश कर रहा हूँ सतगुर के शादाइयों ने हैं छेड़े सुर संगीत सतगुर के शहदाइयों ने हैं छेड़े सुर संगीत भैनी से लंदन तक गूंजे गुर महिमा के गीत भैनी से लंदन तक गूंजे गुर महिमा के गीत आओ फिर से जन्म दिवस पर प्रकट करें हम प्रीत सुर के बल से जीत रहे हैं जग को गुरु जग जी थैंक यू तो सब उनकी कृपा है जिनके माध्यम से जिनकी प्रेरणा से सारा अच्छा काम हो रहा है अब जिस कलाकार को आप देखेंगे जिस गायकों को आप देखेंगे बहुत ही अच्छी कलाकार है यानी इस देश में इस किस्म की बहुत कम इस कद की बहुत कम गायिकाएं आपने देखी होंगी बल्कि देखी नहीं होगी बल्कि मेरा तो ये था आपको राग भीम प्लस और मिश पीलू सुनाएंगी आज तबले पे संगत करेंगे सुखदेव सिंह जी और हारमोनियम पर बहुत ही जाने माने कलाकार उस्ताद फिदा सैसन तो मैं इस कलाकार को दो शेरों से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा इंद्र के दरबार से आई कोई हसीना लगती है इंद्र के दरबार से आई कोई हसीना लगती है स्वरमाला के आभूषण का एक नगीना लगती है परवीन सुल्ताना की गुरपुत्री नीना नीना लगती है नीना बर्मी का स्वागत कीजिए